रथ सहित लक्ष्मण जी थे जब तक तब तक कुछ दबी रहे ज्वाला जब रथ नयनों की वोट हुआ भरा कर भबक उठी ज्वाला अंतर में यदि अमृत सदीश अंतर में यदि अमृत सदृश प्रभु छवि की धरी नहीं होती तो सीता के जीवन शाखा उस बन में हरी नहीं होती पर विधना का जो था विधान पर विधना का था जो विधान होकर बस रह वही बन में होकर बस रहा वही बन में वैदेही वन देवी समान योगनी बनकर बिचरी बन में उस शांत प्रकृति में प्रिय प्रतिका पूजन प्रेमनी गान लगी करने पत्ते पत्ते में प्रियतम का दर्शन प्रेमनी पान लगी करने मानो ब्रह्मा ने मथ मथ कर जग को निसार कर दिया है निकला जो सार प्रेम उससे सीता का रूप धर दिया है बिरह घटा छा रहे थे घुमड़ घुमड़ जब घोर बोल रहा था इस तरह विरहिन का मन मोर तुम कौशल मेरा जी राजाधिराज होकर तुम कौशल में राजो राजाधिराज होकर दासी पड़ेगी बन में स्वामी का काज होकर तुम कौशल में राजो राजाधिराज होकर दास रहेगी बन में स्वामी का काज हो कर त्यागा है तुमने उसको जिसने तुम्हें न त्यागा फिर फैसले को देखो मुनसिफ मिजाज कर तुम कौशल मेरा जो राजाधिराज होकर दास रहेगी बन में स्वामी का काज होकर दुख क्या है गर अवध में मिलता नहीं ठिकाना बन दे रहा जगह है विस्तृत समाज होकर तुम कौशल मेरा जो राजाधिराज होकर दास रहेगी बन में उदास रहेगी बन में स्वामी का काज हो कर स्वामी का काज हो कर दुख क्या है गर अवध में मिलता नहीं ठिकाना बन दे रहा जगह है विस्तृत समाज होकर यह प्रार्थना है दोनों फिर भी जगत में चमके यह प्रार्थना है दोनों फिर भी जगत में चमके रघुकुल की लाज होकर रघुकुल की लाज होकर रघुकुल का ताज होकर तुम कौशल मेरा जो राजाधिराज होकर दासे रहे गिवन में दास रहे गिवन में स्वामी का काज होकर स्वामी का काज होकर मोहंत पे गजितना उतना ही अब दिपेगा मोहंत पे गजितना उतना ही अब दिपेगा बदलेगा रंग अपना सोने का साज होकर सोने का साज होकर तुम कौशल मेरा जो हो होकर दासी रहेगी वन में स्वामी का काज होकर स्वामी का काज हो कर स्वामी का काज हो कर तुम्हें तुम्हारे प्रजा को दोष नशे सुख धाम दो सौ तो का हो रहा था भीषण संग्राम गृहलक्ष्मी ने स्वामी के संग चौदह वर्षों वनवास किया इस भांति राज्य के लक्ष्मी का अपमान कराया ह्रास किया अब डाह निकाला यूं उसने जो बन में मुझे पठाया है संपूर्ण रूप से रानी बन जीवन धन को भरमाया है पृथ्वी पर मुझसे दुखी नार न होगी और न होगी जिसको सारी उम्र भर मिले न सुख की ठोर वर करने हे स्वयं भर में पहले हे पृतु को त्रास हुआ वर करने हे स्वयं भर में पहले हे पृथु को त्रास हुआ फिर जो हे ससुरालय आए पति प्रियतम को वनवास हुआ रानी बनते तपस्नी बनी कुटिया में रही महल बदली जिस पर भी नहीं विधाता के काले काले बदबादल बादल बदली अपमान लखन का कर डाला उस वन में मर्म वचन कह कर खुद भी स्वामी का बिरह सहाम रावण की लंका में रह कर मेरे ही कारण प्राणनाथ बेचैन रहे कितने दिन तक मेरे ही कारण शोणित के दरियाव बहे कितने दिन तक इतने पर भी ग्रह चक्कर ने सुख से न मुझे बिठलाया है सीमा कर दी संकट के जो अब बन भिजवाया है जिसने अपने जीवन भर में सुख चैन न देखा भाला हो मांगलिक समय में स्वामी ने मलो से जिसे निकाला हो ऐसी दुखियारी नारी को हे वृक्ष कहीं निहारा है जितने कष्टों के नारी को बन जीवों कहीं निहारा है सीता रह सकते नहीं योग योगयाधीन नीर बिना संसार में कहीं दिखाई देती बीन सारे सुख संसार दिखाए सजनी सुख सजन बिना नाए बादल गरज गरज घिर छाए खेते हरे झरन बिन पक्षे पिंजड़े में अकुलाए सच्चे मोज गगन बिन नाय जीवन है बस जीवन धन से जीवन जीवन धन बिन नाय इन्हें विचारों में हुए जब अत्यंत अधीर आत्मघात करने चले तब गंगा के तीर हुई कूदने को जभी उस जल में तैयार पीछे से तब कान में आई एक पुकार सावधान भांति तुम करो न निज अवसान आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान सीता ठहरी पीछे मुड़कर देखा कोई मुनि आते हैं जो नाव डूबती हो उसको माझी ही पार लगाते हैं वे आने वाले नए नहीं पहले के परिचित योगी थे विख्यात याद कवि भारत के ऋषिवर से बाल्मीकि जी थे बाल्मीकि आए जभी वैदेही के पास योगेश्वर थे योग से भेद गए सब भाष बोले बेटी धीरज रखो यो प्राण गवाना ठीक नहीं संकट में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं तुम तो विदेह के पुत्री हो यो चिंता करना लज्जा है झूठे अपयस का भोजन बन इस प्रकार मनना लज्जा है है यही तुम्हारा आज धर्म मिथ्यावादों का नाश करो मिट जाएगी कलंक रजनी रविकुल का उदय प्रकाश करो अनुचित है फिर भी कहता हूँ तुम खोटे बात कर रही हो जो गर्भवती हो कर बेटे जल में अपघात कर रही हो जाग उठे थे जान के सुनकर ऐसे बैन फिर बोले मुनिराज से कर कुछ नीचे नैन क्या था हो गया मुझे क्या था क्या सचमुच डूब रही थी मैं कुछ ध्यान नहीं क्या थे विचार जिनमें अब तलक बही थी मैं बेदे ही ठोर चाहते थे रघुकुल की लाज बचाने को जीवन ही में दूसरी बार फिर फिर प्रतिव्रत दिखलाने को इतने में बहने लगा फिर नयन से नीर देख न सके दयाल मुनि तप्त हृदय को चीर सोचा इस संसार के है अलबेली चाल कोई कहीं बहाल है कोई है बेहाल जिसका पति अवध नरेश्वर है जो अवधेश्वरी कहती है वही मारी मारे फिरती रहने को ठोर न पाती है आती है बड़ी हंसी मुझको विधना की उल्टी माया है सब भात सते जो नारी है उसके ही दोष लगाया है इन्हीं विचारों में रहे कुछ क्षण मुनि लवलीन फिर से ताजी से कहा क्यों होती हो दीन रहने को ठोर तुम्हें बेटे पत्ता पत्ता दे सकता है साखियाँ तुम्हारे सतपन की तिनका तिनका दे सकता है चिंता को छोड़ चलो आश्रम रहने को कुटी बना दूंगा महलों के शोभा मान सहित फिर महलों में पहुंचा दूंगा इस प्रकार सीता सहित ऋषि ने किया प्रयाण आश्रम में होने लगा नवकुटी निर्माण सात्विक जीवन की सीमा पर बस इस प्रकार पहुंची सीता कुछ ऋषियों के नारियों सहित उस कुटिया में ठहरी सीता मुनिवर ने यह चतुराई की सीता का नाम छुपा डाला है कौन कहाँ से आई है इन बातों पर पर्दा डाला वन देवी कहने लगे सभी पड़ गया यह नाम सीता का ऋषि कन्याओं का काम करे हो गया काम सीता का प्राय हिरणों के बच्चों को गोदी में सिया खिलाती थी गऊओं के बछड़ों को बहुधाम न लाती नीर पिलाती थी ऋषि आश्रम को फुलवारे को खुद आप न राजा करते थे उन छोटे छोटे पौधों में पानी पहुँचाया करती थी वो तुलसी के वे बेले के वे बिल्व आंवले के बिरवे ने हे गुलाब चमेली के चेत के केवड़े के बिरवी बारह मास के हो हो कर कुछ दिन में खूब लहक उठे वन देवी का कर लगते ही वन के सब फूल महक उठे हर ऋतु के फूल फूलने पर कायम हो गई बहार वहाँ हर रोज हवा में रहती थी वीणा के से शंकार वहाँ इस प्रकार जब कुटी में बीत गए कुछ मास तब मंगल का मोद का समय आ गया पास गौ हिरणों के बच्चे में आनंद अपार हुआ पैदा केलों बिल्लों के वृक्षों में कुछ अजब निखार हुआ पैदा भूतल के सभी वस्तुओं में नूतनता आज समाये है सुरमंडल ने नभ मंडल से फूलों की झड़ी लगाई है झूम झूम जब डालियाँ घूम रही थी चूम तभी मची उस कुटी में पुत्र जन्म की धूम